नमस्कार मित्रों मेरा परिचय देता हूँ राहुल मेहता और राइट टू रिकॉल ग्रुप मैं पिछले तेरह सालों से राइट टू रिकॉल के कानूनों का प्रचार कर रहा हूँ और उसको पब्लिसिटी देने के लिए राइट टू रिकॉल कानूनों के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उसके लिए मैं इंटरनेट कैंपेन है इलेक्शन लड़ता हूँ पैम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और अब तक मैंने अखबारों में करीब बीस जितने एडवर्टाइजमेंट दिए हैं और ये अब यूट्यूब पर वीडियो है तो आज का जो टॉपिक है वो जो डिसीशन है टी जेई e को कैंसिल करने का उसके ऊपर है वो आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल ने मिलके आईआईटी जेई e को खत्म करने का डिसीजन लिया है कि 2014 या 2015 जो भी डेट है उसके बाद वो आखिरी आईआईटी जेई एग्जाम होगी उसके बाद आईआईटी जेई e की एग्जाम नहीं होगी तो वो क्यों किया गया और इस तरह के बहुत सारे जो एजुकेशन में जो डिसीजन है उसको लेकर ये वीडियो है तो भारत में गणित और शिक्षा गणित और विज्ञान की शिक्षा तोड़ने का जो षड्यंत्र है उसके पीछे मेन भूमिका है मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकों की और मिशनरियों की मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिक क्यों भारत का विज्ञान और गणित का एजुकेशन तोड़ना चाहते हैं वो इसलिए तोड़ना चाहते हैं ताकि भारत में इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, टेक्नीशियन कम हो जाए। कम हो जाए तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए, इक्विपमेंट वगैरह के लिए हमें पश्चिम पे हमारा डिपेंडेंस बढ़ जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेंस हमारा बढ़ेगा वेपन्स के लिए। यदि हमारे पास इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन वगैरह नहीं होंगे, तो हम हथियार नहीं, हथियारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और हथियारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हमें बाहर से हथियार मंगाने पड़ेंगे अमेरिका से या फ्रांस से या उसका भाई ब्रिटेन तो इन तीन में से किसी भी देश के पास हथियार है इसका मतलब कि जिस दिन युद्ध शुरू होगा उस दिन स्पेयर पार्ट के दाम 10-20 गुने हो जाएंगे 100 गुने हो जाएंगे पूरा देश उनके हवाले कर देना पड़ेगा और हम उनके सामने कभी लड़ेंगे नहीं क्योंकि मान लो अमरीका के साथ युद्ध हुआ तो जो फ्रांस के प्लेन है वो काम करना बंद कर देंगे फ्रांस उसको रिमोट कंट्रोल के थ्रू या तो किसी भी और टेक्नोलॉजी के द्वारा दो मिनट के अंदर पूरा डिसेबल कर देगा जो अनुभव लीबिया में हुआ लीबिया ने बहुत सारे हथियार फ्रांस से और दूसरे देशों से खरीदे थे वो सारे हथियार एंड में काम करने बंद हो गए और अमेरिका की अमेरिका ने जो विद्रोही सेना को हथियार वगैरह दिए थे वो विद्रोही सेना की जीत हो गई यानी विदेशियों से खरीदे हुए हथियार कभी काम नहीं आते तो भारत में विज्ञान और गणित की शिक्षा को कमजोर करने का काम मल्टीनेशनल कंपनियों ने काफी पहले शुरू कर दिया और उसके लिए क्या-क्या कानून बनाए गए मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और बाद में उपाय तो एक कानून बनाया गया कि एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना है एट स्टैंडर्ड तक सबको पास कर दो वो पेपर ब्लैंक भी रख दे तो भी उसे पास कर दो तो जाहिर है कोई पढ़ेगा नहीं और टीचर है वो पढ़ाएगा नहीं एग्जामिनेशन में स्टूडेंट से ज्यादा टीचर की परीक्षा होती है स्टूडेंट तो जो आता है वो लिख देगा वो अपनी पूरी पूरी कोशिश करेगा लेकिन यदि बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी फेल हो जाते हैं या तो कम नंबर आते हैं तो उससे प्रूव हो जाता है कि शिक्षक ने ठीक से पढ़ाया नहीं यानी एग्जामिनेशन है वो स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक की भी परीक्षा है उस स्कूल की भी परीक्षा है कि स्कूल के ट्रस्टी वगैरह जो मालिक है स्कूल के वो ठीक से शाला चला रहे हैं या नहीं या तो वो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं नहीं तो और इस तरह से क्वालिटी चेकिंग जो होता है वो हर साल होता था वो खत्म करवा दिया क्योंकि एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना है सबको पास कर देना ये कानून धीरे धीरे आया और 2002 के आसपास ये शुरू हो गया कि 8 स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना चाहिए उसके बाद मैं मैंने 12th क्लास की एग्जाम दी 1986 में सेंट्रल बोर्ड में से दी थी तो मैंने कुछ तीन चार साल पहले सेंट्रल बोर्ड की 12th की एग्जाम देखी और टेक्स्ट बुक देखी तो देखा कि टेक्स्ट बुक है वो कलरफुल हो गई है हमारे टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट थी अब इसमें कलर आ गए पर जो लेवल था वो कम हो गया सिलेबस ऐसा लगा मुझे ठीक से मुझे स्टडी करना बाकी है कि 20-30 परसेंट कम हो गया उसके बाद एग्जामिनेशन के पेपर देखे तो बहुत ज्यादा रिपीट होते थे और उसका डिफिकल्टी का लेवल कम हो गया और फाइनली दूसरा कानून जो कपिल सिब्बल ने कुछ एक दिनों पहले बनाया और राज्य सरकारों पर भी दबाव आ रहा है कि टेंथ का बोर्ड है वो खत्म कर दो तो एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना टेंथ का बोर्ड आएगा तो वो भी स्कूल बोर्ड एग्जाम लेगी तो स्कूल तो सबको पास कर ही देगी यानी दसवीं कक्षा तक ना कोई मैथ्स ठीक से पढ़ेगा ना कोई गणित ठीक से पढ़ेगा ना कोई विज्ञान ठीक से पढ़ेगा मैथ्स और विज्ञान दोनों का एजुकेशन है वो कमजोर हो जाएगा मैथ्स और साइंस की खास बात क्या है कि बाकी जो विषय है अंग्रेजी हो या तो ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री वो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हो मान लो फर्स्ट टू टेंथ तक आपने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ा और इलेवंथ की टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू करो हिस्ट्री की तो आप चढ़ती गाड़ी में चढ़ सकते हो लेकिन मैथ्स और साइंस में ऐसा नहीं है मैथ्स और साइंस में यदि बेस कमजोर है तो फिर आदमी को एडवांस मैथ्स सीखना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है सिवा की वो एक वन टू थ्री से दोबारा शुरू करे तो यदि फर्स्ट टू एट तक यदि करोड़ों लड़कों बच्चों का मैथ्स का बेस यदि कमजोर हो गया साइंस का बेस यदि कमजोर होगा तो वो जिंदगी भर कमजोर ही रहेगा और वो समाज कभी अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट वगैरह पैदा नहीं कर पाएगा तो दसवीं कक्षा का बोर्ड खत्म करना ये दूसरा डिसीजन लिया ताकि आ, ये पढ़ाई और कमजोर हो जाए दसवीं बोर्ड को खत्म करने का एक और रीजन था कि 2002 के बाद बड़ी संख्या में बहुत बड़ा बहुत ज्यादा पैसा फूका गया था एजुकेशन के नाम पे और एजुकेशन कुछ होता नहीं था बहुत सारे स्कूल में अटेंडेंस हंड्रेड परसेंट होती थी मुश्किल से दस बीस परसेंट लोग ही आते थे गांव में जितने भी लड़के थे सबका नाम आ जाता था और ग्रांट मिल जाती थी पैसा था वो सब खा जाते थे कोई मिनिस्टर है एमएलए वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है वो सब पैसा खा जाते हैं अब यदि टेंथ का बोर्ड आता है तो पोल खुल जाएगी कि भाई दस साल वो स्कूल में पढ़ा और टेंथ के बोर्ड में यदि मैथमेटिक्स में उसका स्कोर पांच मार्क भी नहीं आता दस मार्क भी नहीं आता इसलिए यदि टेंथ का बोर्ड चालू रहता तो जो पिछले दस साल में एजुकेशन के नाम पे पैसा का गबन हुआ है वो पूरा ऑब्जेक्टिवली सामने आ जाता है इसलिए टेंथ के बोर्ड को खत्म करने का डिसीजन लिया गया और राज्य सरकारों के पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप टेंथ का बोर्ड खत्म करो तो एजुकेशन कमजोर करने के लिए क्या क्या किया गया ये डिसीजन लिया कि एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना टेंथ का बोर्ड निकाल दो मैथ्स का सिलेबस कमजोर कर दो और यहां तक कि कुछ कुछ बोर्ड ने ये शुरू कर दिया कि जो ट्वेल्थ के साइंस के मैथ्स के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक से पूछते हैं मतलब टेक्स्ट बुक में से ही पूछेंगे टेक्स्ट बुक में जो सॉल्ड एग्जाम्पल है वही एग्जाम में आएगा यानी स्टूडेंट को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं अपने दिमाग को ज्यादा कसरत देने की जरूरत है और ये मैथ्स का पेपर तो जाहिर है इससे मैथ्स का बेस कमजोर हो जाएगा अब जेई को जो तोड़ा जा रहा है उसकी वजह यह है कि आईआईटी इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए सेंट्रल लेवल पे दो एग्जाम है ए आई ट्रिपल ई और I I T JEE I I T JEE में कुछ चार लाख लड़के बैठते हैं जिसमें से दस हजार लोग सिलेक्ट होते हैं और बहुत सारे कॉलेज हैं आई एस एम धनबाद की शायद आई आई जेई से स्टूडेंट्स लेती है आ, कुछ नौ जितनी आई आई टी है I T B H U है और बहुत सारे और कॉलेज भी हो सकता है कि आई आई जेई के रिजल्ट पर एडमिशन देना शुरू करें तो दस हजार लेते हैं चार लाख लोग आई आई जेई के एग्जाम देते हैं जिसमें से दस हजार सिलेक्ट होते हैं और ए आई ट्रिपल ई है उसमें दस लाख लड़के एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ लाख दो लाख इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो जेई का फायदा क्या था कि जो चार लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं उनमें से शायद दो एक लाख तो शायद टाइम पास के लिए दे देते हैं लेकिन कम से कम डेढ़ दो लाख सीरियसली उसकी तैयारी करते थे भले सिलेक्ट दस हजार हो लेकिन डेढ़ दो लाख सीरियसली उसकी तैयारी करते थे तो मुश्किल सवाल हल करने की वो कोशिश करते थे तो उनका मैथ्स और साइंस का लेवल इंप्रूव होता था ये ए आई ट्रिपल और जेई में बहुत बड़ा अंतर है जो विद्यार्थी ए ट्रिपल e की तैयारी करता है वो एक लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट ही नहीं करेगा प्रयत्न ही नहीं करेगा क्योंकि उस लेवल के मुश्किल सवाल ए ट्रिपल e में आते ही नहीं है जबकि जेई e में मुश्किल सवाल आते हैं तो विद्यार्थी मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश करता है लाख दो लाख विद्यार्थी मुश्किल सवाल हल करने की कोशिश करते हैं तो उससे उनका मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव यानी जेई में भले सिर्फ दस हजार लोग सिलेक्ट होते हो लेकिन जेई की वजह से लाख डेढ़ लाख लोगों का मैथ्स और साइंस का लेवल ऊपर आता था और वो चीज खत्म करनी है वो क्यों खत्म करनी है कि इतने सारे इंजीनियर और जो आईआईटी से और दूसरे कॉलेजों से जिनका मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव हो गया यदि उनको मल्टीनेशनल कंपनियों को उन्हें नौकरी देनी पड़ती है क्यों क्योंकि वो नौकरी नहीं देंगे तो वो भारत में काम करेंगे तो भारत की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी भारत का टेक्नोलॉजी लेवल इंप्रूव हो जाएगा मैं अक्सर बोलता था कि भाई जो आईआईटी के इंजीनियर अमेरिका गए हैं यदि उन्होंने अमेरिका ने उनको एब्जॉर्ब नहीं किया होगा तो अमेरिका को ज्यादा नुकसान जाता कैसे ज्यादा नुकसान जाता कि वो आईआईटी के इंजीनियर यदि उनको अमेरिका में नौकरी नहीं मिलती तो भारत में कोई झाड़ू पोछा तो करने नहीं वाले थे वो भारत में इंजीनियरिंग शुरू करते और भारत में इंजीनियरिंग शुरू करते तो भारत की स्थिति सुधर जाती तो भारत में डेवलपमेंट कम हो उसके लिए अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है कि वो जितने भी आईआईटी से इंजीनियर निकल रहे हैं उनको किसी भी हालत में वो एब्जॉर्ब करें और प्रोजेक्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट निकालो ताकि उनको कुछ करने के लिए काम मिले किसी भी हालत में उन्हें इंडियन इकोनॉमी में जगह नहीं मिलनी चाहिए पर एक पॉइंट के बाद एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे लिमिट आ जाती है तो होता कि भाई तुम बेस ही तोड़ दो ताकि इतने टैलेंटेड इंजीनियर निकल नहीं बंद हो जाए और टैलेंटेड इंजीनियर निकलने कैसे कम हो जाएंगे कि आईआईटी जेई तोड़ेंगे तो कि जो दस नौवीं दसवीं नौवीं कक्षा में काफी लोग आईआईटी की तैयारी शुरू कर देते हैं मैंने इलेवंथ में शुरू की थी मैंने आईआईटी जेई की एग्जाम दी 1986 में और मैंने इलेवंथ में तैयारी शुरू की थी कुछ लोग नाइन्थ में तैयारी शुरू करते हैं तो नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ ये चार साल जो आई जेई की तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन हो या ना हो उनका मैथ साइंस का लेवल इंप्रूव हो जाता था वो अब खत्म हो जाएगा तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां है या उनके जो भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड हो गए उन्होंने ये कपिल सिब्बल और आईआईटी के जो डायरेक्टर है दे दिया उनको जो भी उनको चाहिए दस करोड़ बीस करोड़ जो भी उनका भाव होगा पता नहीं मुझे क्या उनका गोइंग रेट है आ, तो दे दिया होगा उनको और बोला कि भाई आईटी यही खत्म करो तो आईआईटी के जो डायरेक्टर है वो भी एग्री हो गए कि भाई मेरा क्या जाता है देश का नुकसान है मेरे को तो फायदा ही है मेरा मेरे को कौन सा नुकसान जा रहा है आईआईटी जेई को खत्म करने में तो डायरेक्टर भी सारे एग्री हो गए कि आईआईटी जेई खत्म कर दो तो उससे ओवरऑल कंट्री को नुकसान है उसके बाद एक और भी प्रयत्न हो रहा है कि आईआईटी की फीस बढ़ाई जाए मेरे ख्याल से फिलहाल आईआईटी की फीस दो लाख है और वो धीरे-धीरे तीन लाख से लेकर आठ लाख तक करने की बात चल रही है कि आईआईटी की फीस को आठ लाख कर दी जाए ताकि मिडिल क्लास का कोई यदि इंटेलिजेंट लड़का हो तो वो आई में पढ़ ही ना सके किसी भी हालत में तो उसके ट्वेल्थ के तक उसका लेवल ऊपर आए तो उसका लेवल खराब ही रहेगा अब जो दूसरा जो पॉइंट है कि 10th और 12th का जो सिलेबस कम किया जा रहा है मैथ्स और साइंस का और एग्जाम आसान कर दिए जा रहे हैं और विद्यार्थियों को पास कर दिया जाता है उनका परफॉर्मेंस खराब हो तो भी तो उसमें मैं थोड़ा भेद डालूंगा कि इंडिया में सारे बोर्ड का स्तर गिर रहा है सिवाय की ISC Indian school certificate ISC का वैसे संचालन टेक्निकली दिल्ली से होता है पर उसके पीछे रिमोट कंट्रोल कैम्ब्रिज का है आईएससी के पीछे कैम्ब्रिज uh, का रिमोट कंट्रोल है और आईएससी के स्कूल काफी महंगे होते हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अहमदाबाद में जो सबसे सस्ता आईएससी e का स्कूल है वो साल के कुछ अस्सी हजार एक लाख रुपए उसकी फीस है तो कौन उसमें लड़कों को भेज पाएगा जिसकी साल की इनकम मिनिमम पांच लाख हो छह लाख हो वही अपने लड़के को आईएससी के स्कूल में भेज पाएगा तो जो जो सीबीएसई e और स्टेट बोर्ड है उसका लेवल गिरा दिया तो उससे क्या होगा कि मिडिल क्लास का लड़का आईएससी में जा नहीं सकता तो वो इंटेलिजेंट होगा तो भी उसको मैथ साइंस की अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी वो पोटेंशियली इंटेलिजेंट हुआ तो भी उसको मैथ साइंस की अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी और यदि वो कोई अमीर घर से आता है तो उसके माँ बाप देखेंगे कि भाई उसका लड़का है कि बोझ सहन कर सके तो आईएससी में भेजेंगे तो उसका लेवल इंप्रूव होगा क्योंकि आईएससी में मुश्किल सवाल है वहाँ एग्जाम में फेल करते हैं बहुत टफ एग्जाम लिए जाते हैं उसमें टेंथ का बोर्ड है आईएससी में टेंथ का बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड ने निकाल दिया तो इससे आईएएस इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट में जो बोर्ड जो, जो लड़के जाएंगे वो पढ़ लिख के ज्यादा आगे आएंगे करियर में उनके परफॉर्मेंस में और सिर्फ अमीर लड़के ही उसमें जा पाएंगे मिडिल क्लास की तो कैपेसिटी है नहीं कि वो आईएससी में अपने लड़कों को भेज सके और मिडिल क्लास के लड़के जो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड में जाएंगे यदि वो इंटेलिजेंट हुए तो भी उनका परफॉर्मेंस खराब रहेगा क्योंकि उनको throughout the board throughout the school उनको मुश्किल सवाल और न उनको फेस करने पड़ेंगे न उन पर दबाव डाला जाएगा कि आप ये मुश्किल सवाल सॉल्व करो न उनको मुश्किल सवाल उनको देखने भी नहीं मिलेंगे सॉल्व करना तो दूर की बात रही तो इससे एक जो ट्रेंड था कि एजुकेशन की वजह से काफी मिडिल क्लास के लोग को उनका आईआईटी में जाते थे या तो मेडिकल में जाते थे और उनको वो साल दो साल दस साल बाद अपर क्लास में इंक्लूड हो जाते थे वो ट्रेंड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अब ये सारी समस्या है उपाय क्या है अंत में तो बात उपाय पे आती है तो मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो और कार्यकर्ताओं को कहे और मंत्रियों को कहे बीजेपी के एमपी को कहे सारे एमपी को बीजेपी सीपीएम कांग्रेस कि गैजेट में कुछ कानून छपवाए गैजेट में कौन से कानून छपवाएंगे कि जिससे ये प्रॉब्लम कम हो सकता है पहले तो गैजेट क्या है गैजेट एक सरकारी डॉक्यूमेंट है हर महीने केंद्र सरकार और पच्चीस हमारे जो पच्चीस तीस राज्य सरकार है वो हर महीने एक ये गैजेट निकालती है इसमें आदेश होता है कलेक्टर के लिए सेक्रेटरी के लिए सबके लिए तो हमें यदि कोई सरकारी समस्या का उपाय चाहिए तो हमें गैजेट में क्या छपवाना चाहिए उस पर हमें ध्यान देना चाहिए तो ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P D F मैं फिर से दोहराऊंगा Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P D F और हिंदी है three zero one dot H dot P D F इसका चैप्टर 30 चैप्टर 30 एजुकेशन के ऊपर है 230 चैप्टर 30 में तो उसमें पहला है right to record district education officer कि यदि जिले के लोगों के पास right to record district education officer आता है तो ये जो नए नए कानून बनाए जा रहे हैं कि एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करना सिलेबस कम कर दो वो सारे गबले कम हो जाएंगे और सरकारी स्कूल है वो ठीक से चलने लगेंगे और एजुकेशन का स्तर इंप्रूव होगा दूसरा है right to recall state education minister और right to recall national education minister central government का एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि स्टेट के यदि एजुकेशन मिनिस्टर या केंद्र के एजुकेशन मिनिस्टर इस तरह की घपलाबाजी करते हैं कि आईआईटी जेई e का एग्जाम कैंसिल कर दिया वगैरह तो हम उन्हें नौकरी से निकाल सकते उसकी जगह किसी ईमानदार आदमी को रख सके तो right to record district education officer right to record state education minister right to recall national education minister ये तीन ड्राफ्ट मैंने चैप्टर 30 में दिए हैं सेक्शन 30.2 में दिए हैं एक दो पेज के ड्राफ्ट है ये right to recall district education officer का ड्राफ्ट है और इसी तरह का draft right to recall state education minister का है वो हमें गैजेट में छपवाने चाहिए और उसके बाद मैथ्स का एग्जाम लेवल uh, कैसे इंप्रूव हो सकता है इसका मैंने पूरा एक फॉर्मेट uh, दिया है कि अब कंप्यूटर सस्ते हो गए तो हम बड़े पैमाने पे टेस्टिंग सेंटर खोल सकते हैं और हर लड़के को उसमें मैथ्स का एग्जाम हर पंद्रह दिन में या महीने में एक एग्जाम देना पड़ेगा एग्जाम के जो लाख दो लाख क्वेश्चन है वो पब्लिक डोमेन में डाल दो कोई रट नहीं सकता और एग्जामिनेशन इस तरह से रख सकते हैं कि चीटिंग ना हो सके चीटिंग कैसे नहीं होगी कि मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे पास में कोई दूसरा लड़का बैठा है तो मेरा जो क्वेश्चन ट्वेंटी है वो उसका क्वेश्चन नंबर 50 होगा या 10th होगा यानी मैं उसके टर्मिनल में देखूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं फिर जो कंप्यूटर है वो एक क्वेश्चन का जवाब के लिए सिर्फ दो मिनट देगा उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा आप सिर्फ एक क्वेश्चन पीछे जा सकते हो जवाब चेंज करने के लिए और उसके बाद एग्जाम होगा उसका रिजल्ट उसी वक्त आ जाएगा और स्टूडेंट का जो रिजल्ट है उसके आधार पे स्टूडेंट को इनाम दिया जाए दस रुपए बीस रुपए पचास रुपए वो जो भी बैंक टैक्स से पैसा आता है उससे तय होगा कि भाई मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस का क्या अवार्ड होना चाहिए और टीचर की सैलरी क्या होगी कि भाई आपके लड़के जो हर पंद्रह दिन महीने में एक एग्जाम देते हैं उस एग्जाम में आपके लड़कों का जो परफॉर्मेंस है वो आपकी सैलरी वो पूरा मैंने सिस्टम इसमें डिस्क्राइब किया है कि टीचर को सरकार से एक पैसा फोकट में नहीं मिलना चाहिए मैथ्स के टीचर को और साइंस के टीचर को और जो उसके हर पंद्रह दिन बाद महीने में उसके कंप्यूटराइज टेस्ट उसको लड़ती थी और उसके लड़कों का जो एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है उस हिसाब से टीचर को पैसा दे दिया जाए और भी अन्य दरखास्त है कि कानून का विषय फिफ्थ स्टैंडर्ड से इंक्लूड करना चाहिए जो भी आईपीसी कानून है सीआरपीसी है वगैरह वो बेसिक कानून है कोई अनपढ़ गवार आदमी भी समझा सकता है ये जो वो बोलता है ना कि कानून समझना बहुत मुश्किल बात है जो भी आदमी कहता है कि कानून मुश्किल चीज है वो आदमी सर से पांव तक झूठा है सबसे पांव तो करो पिछले सातों जन्म में झूठा था और आने वाले सात जन्म में भी वो झूठा होने वाला है कानून कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के सिवा सारे कानून एट स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स से ज्यादा सरल है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है इसलिए उसको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है जिसने कभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील ना किया हो बाकी कोई भी आईपीसी आप इंडियन पिनल कोड या भारत का संविधान या कोई भी कानून रख दीजिए उससे बुक क्रिकेट खेलने को तैयार हूं मैं और जो भी पेज आएगा मुझे आप 8 स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स जिसने पास किया हो वैसे 9 स्टैंडर्ड के 30 लड़के दे दीजिए मैं 30 में से 25 नहीं 30 में से 30 को वो कानून समझा दूंगा ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो कि सरल शब्दों में लिखा जाए तो एक आम आदमी ना समझ सके तो कानून है वो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए वेपन एजुकेशन की दरखास्त है कि आ, जो भी आदमी अठारह साल का है स्कूल में हो या स्कूल ड्रॉप आउट हो जो भी है उसको कंपलसरी वेपन एजुकेशन यानी कि बंदूक चलाने की ट्रेनिंग और दूसरे छोटे मोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए तो ये सारे मैंने एजुकेशन में डिस्क्राइब किया है तो ये सारे और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम तोड़ने की जो तरीके चल रहे हैं कि एट स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं करने का सिलेबस कम कर दो उसका दूसरा भी एंगल है कि जो अमीर लड़के हैं जिनके माँ बाप अपने लड़कों को आईएससी में भेज सकते हैं या तो महंगे ट्यूशन क्लास में या कोचिंग क्लास में भेज सकते हैं उनका तो एजुकेशन ठीक चलेगा वो तो यदि इंटेलिजेंट है तो वो मैथ साइंस में उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और गरीबों को नहीं मिलेगी तो इससे गरीब आदमी क्या करेगा वो अपने लड़के को मिशनरी स्कूल में भेजना शुरू करेगा ये दो वजह से जो एजुकेशन सिस्टम को तोड़ने की कोशिश है वो इसलिए की जा रही है ताकि मिशनरी स्कूल को ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के मिले, ज्यादा उनको लोअर क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में मिशनरी स्कूल में जाना शुरू करें और उनको फिर कन्वर्ट किया जा सके तो ये और इसमें सारी राज्य सरकारों के एजुकेशन मिनिस्टर भी शामिल है गुजरात में भी सरकारी स्कूलों का स्तर दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है महाराष्ट्र में भी बिगड़ता जा रहा है आप कोई भी राज्य ले लीजिए वहां पे सरकारी स्कूलों का स्तर है वो तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है और इसीलिए जो गरीबों के लड़के हैं वो अपने उनके पास कोई चारा नहीं है उनके पास तो पैसा नहीं है कि अपने लड़के को आई के स्कूल में भेज सके इसलिए फिर वो मिशनरी स्कूल में भेजते हैं तो right to recall district education officer एक उपाय है दूसरा right to recall state education minister right to recall national education minister ये मैंने जो व्यवस्था गणित की व्यवस्था के बारे में बताया कि हर महीने विद्यार्थी का एग्जाम हो उस एग्जाम के आधार पर उसको अवार्ड मिले और शिक्षक की सैलरी भी उस एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पे डिसाइड हो इसे मैं साक्ष्य सिस्टम कहता हूँ और अंत में विद्यार्थियों को सिक्स स्टैंडर्ड से कानून का एजुकेशन दिया जाए और अठारह साल के हर एक व्यक्ति को बंदूक आदि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाए तो ये मेरे चैप्टर थर्टी का सारांश है अभी हमें आईआईटी जेई e को एग्जाम फिर से शुरू करवाने के लिए हमें पहली मुहिम चलनी चाहिए कि कपिल सिब्बल को नौकरी से निकाला जाए और आईआईटी के सारे डायरेक्टरों को नौकरी से निकाला जाए आईआईटी के सारे डायरेक्टरों ने आईआईटी के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है सबके सब तेरह के तेरह बारह तेरह जितने भी है सारे आईआईटी के डायरेक्टरों ने उन्होंने जो यूनानिमस सजेशन दिया कि आईआईटी जेई e को खत्म करना चाहिए एक एक डायरेक्टर को मैं कहूंगा नौकरी से निकालना चाहिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए उन्हें किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नौकरी नहीं देनी चाहिए और कपिल सिब्बल को भी नौकरी से निकालना चाहिए तो मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि वो ये इतने मुद्दों पर मुहिम छेड़े कि कपिल सिब्बल को नौकरी से निकाला जाए आई के डायरेक्टर को नौकरी से निकाला जाए आई आई e को जिस तरह की थी उसी तरह से उसको रखा जाए धन्यवाद